श्या सुन्दर मदन मोहन श्या Mohan मिश्रा साहब ओहो उनकी फरमाइश बहुत जरूरी बैठने से पहले भी बैठने के बाद भी आने से पहले भी आने के बाद भी वाह वो एक बड़ी मार्का तुलारा गज़ल है ओहो हो हो मेरा ये ख्याल था और हाँ, ये भी ख्याल सही है लेकिन कि एक दफ़ा पियानो का बुला ले हो हाँ हाँ तो उसके बाद फिर गज़ल हो जाए मेरा ये ख्याल है ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਓ ਤੋ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ बुलाइए पैसा बुलवा हैं वो कह रहे जी पहले पैसा बुलवा दो पैसा तो इतने बोल रहा ही कोई नहीं अच्छा क्या फरमाइश है भाई ये कुछ अच्छा अच्छा आप साहब, जबान से भी वो- कह देते तो पह- हाँ सुना क्या देते है? अल्लाह नहीं नहीं इधर दो। भाई भाई, भाई इधर दो क्या क्या कर रहे हो ओहो अल्लाह अच्छा ये भी बहुत एक जरूरी है दो तीन चार पाँच छ सात ओहो ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਰਾ <laughs> अच्छा हाँ जैकेट वगैरह उतार दो तो पट्टियां उतार अच्छा हूने बुलाने कोई गल नहीं अच्छा जनाब हाजी साहब बात यह है कि लोगों को पैसे का ख्याल है हाँ। लेकिन मुझे गायकी का ख्याल है कव्वाली का ख्याल है पैसा तो बोलता ही रहता है जिस किसी के पास भी हो लेकिन आप इस महफिल में आपके चाहने वालों की इस कदर इफरात है इतने हाँ। ज्यादा है कि मैं अपने आप को यतीम महसूस कर रहा हूँ चाहने वालों की लाइन में मैं भी हूँ शायद आपकी नज़र में एक और चाहने वाली आपकी यहाँ बैठी है रमा जी हाँ। लंदन से आपका ताल्लुक रहा है अपने अपने ताल्लुक की बात लोग भी कर रहे हैं मेरा अमेरिका से ताल्लुक है साहब आप क्या बात कर रहे हैं हाँ। तो उन्होंने ये कहा कि आज आपको याद दिला दें ख़ास तौर पर फरीद भाई और आप कि शरद पूर्णिमा आज 12 बजे के बाद शुरू हो जाएगी कल शरद पूर्णिमा है आप समझ गए होंगे अब के साल हाँ, हाँ, हाँ, बस जी हाँ पूर्णमाशी आज से शुरू हो जाएगी और एक दरखास्त आप तमाम खातिन हजरात में से जो लोग फरमाइश करना चाहते हैं स्टेज पर तशरीफ न लाएं उधर से रास्ता है वहाँ पर्ची मुझे दे दें मैं उन तक पहुँचा दूंगा ये आपसे दरखास्त है मेरी इस दिल ने एक चीज बड़ी बेशबहा मांगी है ओहो हो क्या उसने मगरूर की फितरत से वफा मांगी है जो कि नामुमकिन है मसलहत है मसलहत है कि तवज्जो है कि या साजिश है मेरी प्रॉब्लम मसलहत है कि तवज्जो है कि या साजिश है एक दुश्मन ने मेरे हक में दुआ मांगी है दिल पे क्या गुजरी है कुछ दिल पे क्या गुजरी है कुछ तुमको बताया भी नहीं किस्साए दर्द अभी मैंने तो छेड़ा भी नहीं सिर्फ चेहरे की उदासी पे भराए आंसू दिल का आलम तो अभी आपने देखा ही नहीं वाह हजारों साल की हजारों साल आवारगी पे भारी है आहा हजारों साल की आवारगी पे भारी है वो एक शब्द जो तेरी याद में गुजारी है हजारों साल की आवारगी पे भारी है वो एक शब्द जो तेरी याद में गुजारी है हाँ, हमें ये जाम के हम हुस्न के मुसविर हैं अच्छा हमें ये जाम के हम हुस्न के मुसविर हैं उन्हें ये नाज के तस्वीर तो हमारी है सुबह अल्लाह हाँ। अच्छा मुझे कुछ आवाज़ें आ रही हैं तो मैं एक बात अर्ज करूंगा कि बात बात कम कीजिए जहानत को छुपाते रहिए अच्छा क्योंकि अजनबी शहर है ये दोस्त बनाते रहिए दुश्मनी लाख सही खत्म न कीजिए रिश्ता दुश्मनी लाख सही खत्म न कीजे रिश्ता अरे दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए वाह बात यह है कि सारी बात मिलाप की है ये जो सार्क कॉन्फ्रेंस है ना हमें बे इंतहा खुशी हो रही है कि ये हमारी खुशनसीबी है कि हम इसमें शरीक हैं और आप लोगों को सुना रहे हैं तो इसके मुताबिक एक शेर अर्ज है हम भी मोहब्बत तुम भी मोहब्बत आओ मोहब्बत आम करें आओ मोहब्बत आम करें हम भी मोहब्बत हम भी मोहब्बत तुम भी मोहब्बत आओ मोहब्बत आम करें धरती को आकाश बनाए रोशन सुबह शाम करे प्यार का बंधन सच्चा बंधन दुनिया में कहलाता है प्यार का बंधन सच्चा बंधन चाहे बस मिलकर ऐसा काम करें वाह क्यों अच्छा साहब एक पर्सनल शेर है वाह कुछ लोगों ने उड़ा दिया था कि ये दोनों भाई अलहदा हो गए तो उस पर मैंने एक शेर कहा है वाह कि जब हमें इकट्ठा देखा खुदा ने हाय हाय हाय खुदा ने ये जोड़ी क्या बात है खुदा ने ये जोड़ी दोबारा मिला दी कोई जल गया और किसी ने दुआ दी वाह क्या मजे की बात याद आ गई अभी अभी जो धूप निकलने पे बात आ, अभी अभी जो धूप निकलने के बाद सोया है तमाम रात तुम्हें याद करके रोया एक ऐसे दोस्त को ऐ दोस्त तूने खोया है जो तेरे साथ हंसा तेरी साथ रोया है मेरी दास्ताने हसरत वो सुना सुना सभी के होते हैं लेकिन अहले दिल वो कहलाते हैं जिनके दिल में कुछ दर्द होता है अल्लाह कोई ऐसा अहले दिल हो कोई ऐसा अहले दिल हो जो फसाना है मोहब्बत मैं उसे सुना के रो जी साहब जी सरकार आप अभी किस कदर खूबसूरत गज़ल किसी शायर की पेश कर रहे थे लेकिन आपके यहाँ आज के चाहने वालों में हाँ, हाँ। कव्वाली के चाहने वालों की बहुत बड़ी तादाद है जी जी। और ताजदार हरम की इतनी फरमाइश है फिर बाकी फरमाइशें मैं आपको देता हूँ आप खुद देख लीजिए लेकिन ताजदार हरम की बहुत ज़्यादा फरमाइश है फिर यह है कि हमको वफाओ मेहर से कासिर न जानिए आप अभी कह रहे थे कि दोस्त क्या होता है दोस्ती के बारे में तो ये भी कहते हैं कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से ये नए मिजाज का शहर है ज़रा फासले से मिला करो चूँकि आप तमाम खातिन हजरात इंतज़ार कर रहे हैं आपकी उस कव्वाली का जिसे ताजदान हरम का मुकदस नाम दिया गया है वाह हाँ वो तो हाँ, हाँ, बहुत जरूरी अच्छा बहुत अच्छा हाँ हाँ हाँ ओ यार अच्छा चले ठीक है ये गर्मी हमें लग रही है हाँ, हाँ हाँ जरूर Allah. ओहो वाह वाह वाह वाह ऐसी ऐसी चीजें सुनोगे पढ़ पढ़ इलम कांदा पड़ पढ़ इलम बां नाम रखायो काज़ी मक्के गए ते हजकर आए नाम रखायो हाजी پر شمشیر مجاہد والی نام رکھا او غازی غلام پر دون کچھ نہیں کی تجن یار نہ کیتا راضی واہ मुला चुप कर तुधकी शर चुप कर शर रखणी हा शराल फीर द रही हुई तूं शराब ख़याल मुला ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਏ ਓ ਆ ਆ ਆਵੇ ਮਹੀ ਆਵੇ ਮਹੀ ਟੰਡਿਆਂ ਵਣ ਤੇ ससुराल की मैया पंजाबी फारसी हिंदी पूर्वी इसमें सब मिक्स है क्या बात है आवे माही एहसान मनसा कदन लहसा आवे माही रबूदा फिराके तो अजमत करारम बेआजा ने जाना किधर इंतजारम आए जाओ नेमान जान आओ नेमान बरमन निगर सुल्तान ने मन यक्षब्या मेहमान मन अजमन चरा रंजी दई आवे माही ओ आवे माही आवे आवे आवे आवे आवे माही अपनी अपनी आवाज में अपने महबूब को सब बुलाते हैं आवे माही दिल तरफ देखिया रोन पैया वाह ਸੀਨਾ ਸੜ ਦਾ ਤੇ ਜਿਗਰ ਕਬਾਬ ਹੋਇਆ ਹਾਏ ਦਿਲ ਤੜਪਦਾ ਖੀਆਂ ਰੋਣ ਪਈਆਂ ਸੀਨਾ ਸੜ ਦਾ ਤੇ ਜਿਗਰ ਕਬਾਬ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਆਵੇ ਮਾਹੀ ਆਵੇ ਮਹੀ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬਲੋਚੀ ਵਾਹ ਯਾਰ ਮਨ ਤੋ ਕੁਜਾ ما تراجس کتا آل ماهی واه پښتو پښتو پما د کیړي الله پما د کیړي د لندو لختو بارونا زما جنانا مروړه لسونا آو ماهی سندي سندي اغریب وایا तो ककी न वना तो तुंहिंजे मुल्कन में मुझे दुश्मन घना ओ प्यार प्यार दई पौधार न कर एॾो ज़ुल्म ज़ुरा बलियार न कर आवे माही अच्छा साहब एक जबान मैं आपको ऐसी सुना रहा हूँ कि शायद आप लोगों ने सुनी हो और अगर सुनी भी होगी तो तो हमसे ही सुनी होगी बात तो यही है कहते हैं जब से देखो रूप तिहारो निंदर नहीं मारी आख्या में अल्लाह जब से देखो रूप तिहारो नींदर नहीं मारी आख्या में मारे मन में जादू कर गयो थारी मीठी बाता ने भूल गई सर कामा ने याद रखू थारे नामा ने अल्लाह क्या बात है हाय क्योंकि पूर्वी हिंदी भी तो आनी चाहिए ना हा कैसे कटे उमरिया आसई आस में बीती जाए अच्छा हमरे नैन दरस बिन तरसे तुम बिन बालम कछ न सुहाए तोर प्रीत के कारण हाय मोसे रूठे अपने पराए सब रूठे एक तुम मत रुठियो तुम रुठियो तो गजब हो जाए दुखिया प्रेमी बालक बन की दुखिया प्रेमी बालक बन के रो रो नैनन नीर बहाए ऐसी मार गयो नजरिया मुख से हर दम निक से हाय के केसरिया बालम आवजी पधारा